सज्जनों सीता जी की सहायता करते हुए गिद्धराज जटायु रावण के हाथ से घायल होकर अंतिम सांसें प्रभु दर्शन की आशा में रोक रहे तन में वो तन जो तिन के साथ टूटा फिर भी अभिलाष यही मन में आ जाए वो आ जाए और मैं सी संदेशा कह दूं कुछ सब कुछ तो गमाया जीवन भर चलती बिरिया लौटा कुछ इतनी ही भगवान आप पहुँचे उन्होंने गोद में उठाकर जटायु से पूछा तुम्हें किसने दुख पहुँचाया वो कौन राधम आया तुम्हें किसने दुख पहुँचाया जटायु धीरे धीरे बोले बैठा था स्वामी थका हुआ कुछ शब्द सुने कोई नारी रटती राम नाम दुखिया पर से दूर तही पहुँचा देखा रामन अभिमानी को बल से ले जाता रोती सिया रानी को मैं लड़ा अनेकों यत्न किए पर सब निष्फल अधमरा पड़ा गिनता हूँ स्वामी एक एक पल वो स्वामी जी ने लिखा है कि अपने ही कारण जटायु की ऐसी दिशा देखकर राम कही तन राख होता मुखमूत काज कहे ते बाता जटायु ने बड़ी दीनता से कहा जाकर नाम मारत मुख आवा अधम हूँ मुक्त को ये श्रुति गावा तो लोचन गोचर आगे राख हूँ नाथ देह के लागे भक्तजनों इतना कहते हुए जटायु ने सदा के लिए नेत्र बंद कर लिए तब अपने हाथन गीध तनो अग्न प्रवेश कराए भात प्रशंसा तब करत चले लखन रघुराय